वो वक्त याद करो जब तुम मुंह उठाए चले जा रहे थे और किसी को मुड़कर नहीं देखते थे और रसूल तुम्हारे पीछे से तुम्हें पुकार रहे थे चुनाचे अल्लाह ने तुम्हें रसूल को गम देने के बदले शिकस्त का गम दिया ताकि आइंदा तुम ज्यादा सदमा न किया करो न उस चीज पर जो तुम्हारे हाथ से जाती रहे और न किसी और मुसीबत पर जो تمہیں पहुंच जाए और अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है